बस बस बस बसमीम सात अबाब सात अबवाब जो निकले थे असल के अरब से उनका बयान पूरा हुआ सातवें सातवां बाब जो मोटल था उसमें हरकत पोशीदा माननी थी उसी की मुनासिबत से एक और बाप ले आए कि जिन जगहों पे वो मवाज है जहाँ पे एराब पोशीद यानी तकदीरी होता है एराब पोशीदा होता है मुकद्दर होता है उसका बाप शुरू फरमा रहे हैं हासिल बाब यह है कि छह मौाक़ ऐसे हैं जहां एराब हर हाल में पोशीदा रहता है कितने छह मवाजे ऐसे हैं जहां पर एराब हर हाल में पोशीदा रहता है पहला मवाज़ पहला मौका कि वो असमा जो याय मुतकलम की तरफ मुजाफ हो कौन सा वो आसमा जो याय मुतकलम की तरफ मुजाफ हो नंबर दो इसमें मकसूर नंबर तीन इसमें मनकूस नंबर चार वो फैल जो मोतल बिल वाव हो उसकी बहस पहले आ चुकी कुछ तो कितने चार नंबर पांच वो फैल जो मोतल बिल या हो और नंबर छह वो फैल जो मोतल बिल अलिफ हो तो ये छह मवाजे ऐसे हैं जहां एराब तकदीरी पोशीदा होता है फिर से एक बार पहला तो वसमा जो आए मुतकलम की तरफ मुजाफ हो नंबर दो इसमें मकसूर नंबर तीन इसमें मनकूस नंबर चार वो फैल जो मोतल बिल वाव हो नंबर पांच वो फैल जो मोतल बिल या हो नंबर छह वो फैल जो मोतल बिल अलीफ हो कह रहे हैं सुम कुलतु मतन बयान कर रहे हैं सुम कुलतु फसलुन अब यहाँ पे किताब में एराब इबारत छुटी हुई है तुकदरु है फसलुन के बाद तुकदरुल हरका तुकुल्लुहा फी नहवी गुलामी व नहवी अलफता फसलुन के बाद तुकदरु छुटा हुआ है उसको इजाफा कर ले बाकी के नुस्खों में तुकदरु है तुकदर हरकत कुल्लु हाफी नहवी गुलामी व नहवी अलफता हरकत तमाम हरकत मुकद्दर होती है पोशीदा होती है गुलामी और फतह जैसी मिसालों के अंदर वह यूसम्मा मकसूरन और उनको इसमें मकसूर कहा जाता है तारीफ पढ़ ली होगी आपने सर्फ के अंदर इसमें मकसूर किसको कहते हैं जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो आगे उसकी बहस आ रही है वह जम्मत वलकसत फी नहवी अलकाजी वह यूसम्मा मनकूसन और यानी इसका अतफबी तुकद्दर ऊपर और जम्मा और कसरा मुकद्दर होता है काजी जैसी मिसालों के अंदर वही उसम्मा मनकूस और उनको उनके इसमें मनकूस कहते हैं इसमें मनकूस यानी जिसके आखिर में या माँ कबल मकसूर हो उसको क्या कहते हैं इसमें मनकूस उसकी बहस भी आगे आ रही है वजम्मतुफी वजम्मतुफी नहवी यक्षा वजम्मतुफी नहवी यद ओ वयरमी तुकद्दर उजम्मत यहाँ पे भी तुकद्दर पोशीदा है और जम्मा मुकद्दर होता है यक्षा जैसी मिसालों के अंदर और जम्मा मुकद्दर होता है यतो और यरमी जैसी मिसालों के अंदर ये तो मतन हुआ शरा कर रहे हैं वह अकूल अल्लदी तुकदर फ़ी हरकत सलासत अनवाइन वो कलीमे जिसमें तीनों हरकत पोशीदा होती है तीन किस्मों पर है उनकी तीन किस्में हैं वो कलीमा जिसमें हर तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है वो तीन किस्मों पर है माँ तुकदर फ़ी हरकत सलास बास तो वो कलीमे हैं जिसमें तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है वमा तुकद्दरूफ़ी ही हरकतानी और बाज़ वो कलीमे हैं जिसमें दो हरकत पोशीदा होती है वमा तुकद्दरूफ़ी हरकतन वाहिदतन और बाज़ कलीमे वो हैं जिसमें एक हरकत पोशीदा होती है यानी उसकी छह असमा जो छह हमने किस्में बयान की उनकी तीन किस्में हैं कि बाज़ों के अंदर तो हालत रफ़ी में भी आरा पोशीदा हालत नसबी में भी आरा पोशीदा और हालत जर्री में भी आरा पोशीदा तो एक किस्म वही कि जिसमें तीनों तीन हरकत पोशीदा तीनों तीन हालत के अंदर एराब पोशीदा दूसरी किस्म वो है कि जिसमें दो हालतों के अंदर एराब पोशीदा एक हालत के अंदर एराब जाहिर होगा और तीसरी किस्म वो है कि जिसमें सिर्फ एक हालत के अंदर एराब पोशीदा रहता है दो हालत के अंदर एराब जाहिर होता है अब वो बयान कर रहे हैं फ़मल्लती तुकदरूफ़ी ही सलास आनी बहरहाल वो कलीमे जिसमें तीनों तीन हालत में एराब पोशीदा होता है नौआनी दो किस्में है उसकी जिसमें तीनों तीन हालत हालत रफ़ी में भी एराब पोशीदा हो हालत जर्री में भी और हालत नसबी में भी तीनों तीन हालत में एराब पोशीदा हो मुकद्दर हो उसकी दो किस्में हैं अहदुहा फैला याल मुतकलम वो कलीमे जो या मुतकलम की तरफ मुजाफ हो वलई सा मुसन्ना वला जम मुजक्कर सालिमन और वो मुस्तनिया ना हो और जमा मुजक्कर सालिम ना हो वला मनकूसन और इसमें मनकूस ना हो वला मकसूरन और इसमें मकसूर भी ना हो तो पहला वो कलीमा जो या मुतकलम की तरफ मुजाफ हो लेकिन उनकी शर्त क्या है तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम ना हो इसमें मनकूस और इसमें मकसूर ना हो उसका एरब आगे आएगा तो बस इतना याद रखो पहली किस्म कौन सी जो या मुतकलम की तरफ मुजाफ हो इन शर्तों के साथ जैसे कि गुलामी व गिलमानी व मुस्लिमाती जैसे कि गुलामी देखो गुलाम था उसको मुजाफ किया किसकी तरफ या मुतकलम की तरफ अब उसका एराब पोशीदा रहेगा हाजा गुलामी रई तो गुलामी मरड़ तो भी गुलामी तीनों तीन हालत में गुलाम गुलाम ही रहेगा उसका एराब पोशीदा माना जाएगा गुलामी जा गुलामी तो क्या कहेंगे जा फैल गुलामी मुजाफ मुजाफिले मिलकर फाइल फाइल है तो किस हाल में गुलाम होगा हालत रफी में लेकिन रफा दिखेगा नहीं एराब पोशीदा होगा मुकद्दर माना जाएगा फहद हिल वना हुआ तो अरबू भी हरकत इन मुकदरत इन अलामा कबल लिया ये इन जैसी मिसालों के अंदर तो और दिया जाएगा भी दिन ऐसी हरकत के साथ जो मुकद्दर होगी या से माकबल में या से पहले या में तो या तो मुजाफिले की या है मेरा गुलाम वो या मुतकलम की या तो है उससे पहले जो हर्फ होगा वहां पे ऐराब पोशीदा होगा वल्लदी मन अमिन जहूरिया और वो चीज जिसने ऐराब के जहूर को रोका मन अमिन जहूरिया जिसने ऐराब के जहूर को रोका जिसने हरकत के जहूर को रोका अन्न वो ये है कि अन्नहुम इल्तजमु अन अन यातु कबल लियाई तुजा निसुहा के अहल अरब ने इल्तजाम किया है कि वो लाते हैं कबल लियाई या से पहले हरकतिन ऐसी हरकत को निसुहा जो या के मुनासिब हो और वो कसरा है और वो चीज़ जिसने तैराब जिसने हरकत के जहूर को रोका वो ये है कि अहले अरब ने इल्तज़ाम किया है कि वो या से पहले ऐसी हरकत को लाते हैं जो या के मुनासिब हो और वो कसरा है क्या कहना चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं कि अहले अरब ने यानी उनका एक दस्तूर है कि जहां पे या लाते हैं तो या से पहले जहां पे मुजाफिले की या लाते हैं या मुतकलम को मुजाफिले बनाते हैं तो उस इस सूरत के अंदर वो या से पहले वाले हर्फ पर या के मुनासिब हरकत दे देते हैं तो या की मुनासिब हरकत कौन सी है कसरा तो या की मुनासबत से या से माँ कबला के अंदर वो कसरा दे देते हैं जहां पे या की तरफ किसी इसम को मुजाफ बनाते हैं तो मां कबल वाले हर्फ के अंदर या की मुनासिबत से वो कसरा देते जैसे गुलाम था गुलाम को मुजाफ किया इजाफत की किसकी तरफ या मुतकलीम की तरफ अब या की वजह से गुलाम के आखिर में कौन सा हर्फ है लाम कलीमा कौन सा है गुलाम में मीम तो या की मुनासिबत से मीम को कसरा दिया क्या हुआ गुलामी अब देखो गुलामी हो गया कसरा किसकी वजह से आया मुनासबत का कसरा उसको कहते हैं किसकी वजह से आया कसरा मुनासबत कौन सी मुनासबत या की मुनासबत से गुलामी हो गया अब हम पढ़ेंगे तू भी गुलामी क्या पढ़ेंगे तू भी गुलामी गुलामी में कसरा पहले से था मुनासबत का कसरा बाहर पे जर अब दाखिल हुआ है गुलामी पर वो भी चाहता है कसरा दे जर दे बाहर पे जर है वो क्या चाहता है मजरूर बनाए जर दे लेकिन इस पर तो पहले से कसरा है किस पर मीम पर या में तो एराब जाहिर होगा नहीं और या की मुनासबत से पहले से मीम पर कसरा आ चुका है और बा खुद चाहता है मीम को जर देना लेकिन एक ल, एक हर एक ही वक्त के अंदर दो हरकत को तो कबूल करेगा नहीं दो वजह से उस पर कसरा आ सकता नहीं है इस वजह से अरब यहां पोशीदा माना जाएगा यही कहना चाहे समझे क्या कि अहल अरब का यह दस्तूर है कि जब किसी इसम को या मुतकलिन की तरफ मुजाफ करते हैं तो उस या की मुनासबत से उस इसम के आखिर के अंदर कसरा दे देते हैं जैसे गुलाम को मुजाफ किया या की तरफ तो क्या हुआ गुलाम और उसके बाद या अब उस या की वजह से गुलाम के आखिर कौन है मीम मीम को कसरा दिया क्या बन गया गुलामी क्या बन गया गुलामी अब उसको मरड़ तो भी गुलामी हम पढ़ते हालत जर्री में बाहर हरफ जर दाखिल कर दिया हरफ जर तकाजा क्या करता है कि मीम को वो जर दे मीम पर कसरा पहले से मौजूद है अब मीम एक हाल में एक तो मुनासबत का कसरा भी लिए हुए है और हरफ जर का कसरा भी ले ऐसा हो नहीं सकता है और ये तो इजाफ यानी तरकीब जब बनाई मरड़ तो भी इजाफी इससे पहले इस पर तो कसरा दाखिल हो चुका है इस वजह से यहाँ एराब पोशीदा माना जाएगा वही कह रहे हैं वल्लती और जिस चीज ने हरकत के जहूर को रोका वो ये है कि अहल अरब ने इल्तजाम किया है कि वो या को लाते हैं वो हरकत को लाते हैं या के माँ कबल ऐसी हरकत जो या के मुनासिब हो और वो कसरा है फस्तहाल ही नईजिन अलमजी भी हरकत एराबी कबल लियाई उस वक्त महल होगा ऐसी एराब की हरकत को लाना या से पहले समझे उस वक्त एराब की हरकत को लाना या से पहले महाल हो जाएगा यानी तरकीब के अंदर जो एराब आएगा वो अब महाल होगा क्योंकि उससे पहले कसरा आ चुका है तरकीब से पहले ही कसरा आ चुका है फर्स्ट हाल उस वक्त महाल होगा एराब की हरकत को लाना या से माकबल में ईदिल महल वाहिद लायकबल हरकत ही नहीं इसलिए कि एक ही महल दो हरकत को कबूल नहीं करता है फिर आनिल वाहिद एक ही वक्त के अंदर एक महल एक ही वक्त के अंदर दो हरकत को कबूल नहीं करता है ऐसे यहां पे देखें भाई गुलामी तो हो गया कैसे हुआ कि या की मुनासब से कसरा दे दिया अब जा गुलामी जा गुलामी जा का जा क्या तकाजा करता है वो रफा दे क्यों फाइल बनने की वजह से गुलामी के मीम को या में तो अरब जाहिर नहीं होगा तो मीम को वो रफा देना चाहता है हम अगर मीम के बगैर पढ़ते क्या पढ़ते जा गुलामुन जा गुलामुन तो जा तकाजा कर रहा है कि वो जम्मा दे लेकिन उसके अंदर तो पहले से या की मुनासबत का कसरा आ चुका है अब जम्मा भी आए कसरा भी आए एक ही महल के अंदर दो एराब हो नहीं सकता है तो क्या कहेंगे जा गुलामी ही पढ़ेंगे उस वक्त लेकिन क्या कहेंगे या से माँ कबला के अंदर यानी मीम के अंदर एराब पोशीदा है कौन सा जम्मा क्योंकि वो जहा का फाइल बन रहा है चलो फतकूल जा गुलामी फतकून अलामत रफ ही जम्मतन मुकदरतन अलामा कबल लिया तू कहे कि जा गुलामी तो उस वक्त रफा की अलामत जम्मा मुकद्दर होगा यहाँ के माकबल में तो रफा की अलामत जम्मा मुकद्दर होगा यहाँ के माकबल में और तो गुलामी फतकून फतकून अलामत नसबी फतहतन मुकदरतन अला माकबल लिया अगर तो गुलामी तो उस वक्त में नसब की अलामत फतहा मुकद्दर होगा या से माकबल नसब क्यों रईतु का मफूल बन रहा है गुलामी इस वजह से वह मरर तो भी गुलामी अगर तू कहे कि मरड़ तो गुलामी फतकून अलामत जर्र ही कसरतन मुकदरतन अलामा कबल लिया आई तो उस वक्त जर की अलामत कसरा मुकद्दर होगा या से माकबला यानी मीम के अंदर हाज हिल मौजूदा तू कमा जामा इब्न मालिक न कि ये कसरा जो मौजूद है जैसे कि इब्न मालिक इब्न मालिक का गुमान है फिन नहा मुनासबत इसलिए कि ये तो या की मुनासबत का कसरा है वही मुस्तहक वही मुस्तहकतुन कबल तरकीबी और वो तो तरकीब से पहले ही वाक़ हो चुका है मुस्तक हो चुका है नमा दखल जर्री बाद रिहा और आमिर जर तो उसके मुस्तक होने के बाद दाखिल हुआ है क्या कहना चाहते हैं इस इबारत से ला हाज हिल कसरत अतु कमा जम इब्न मालिक कहना यह जाता है कि इबन मालिक का गुमान यह है कि ये जो कसरा है ना गुलामी में कसरा वो खुद एराब का कसरा है मरड़तू भी गुलामी मररतू भी गुलामी तो तू फेल बफाइल बा हरफ जर गुलामी मुजा मुजाविले मिलकर बा हरफ जर का मजरूर बन रहा है अब ये गुलामी में मीम के नीचे जो कसरा है इबन मालिक का गुमन क्या है कि ये बाह का कसरा आया है तो इसकी तरदीद कर रहे हैं क्या कहा कि ला हाजिल कसरत वल मौजूद है तू कमाजामा इब्न मालिक न कि ये कसरा जो मौजूद है जैसा कि इबन मालिक का गुमान है क्यों इसलिए कि ये तो मुनासबत का कसरा है या कि मुनासबत से कसरा गुलामी के अंदर लाए थे और ये कसरा ये तो यानी मरर तो भी गुलामी तरकीब की उससे पहले गुलामी में तर, क्या है कसरा आ चुका तरकीब तो बाद में हुई यानी उसको मररतु तो का मफुल बाद में बनाया कसरा तो पहले आ चुका है तो अलहासिल कसरा किसका है मररतु तो भी गुलामी में कसरा किसका है मुनासबत का कसरा है इब्ने मालिक क्या कहते हैं ये कसरा किसका है बाहर पे जर का मजरू होने की वजह से तो सही क्या है मुसन्नी क्या कह रहे हैं कि भाई राजा कौल यही है कि इसमें ये कसरा जो क्या है मुनासबत का कसरा है क्योंकि ये तो तरकीब से पहले आ चुका था मुनासबत की वजह से या की मुनासबत से तरकीब तो बाद में हुई और मरदू का मफूल और बाहर पे जर का मजरूर तो बाद में उसको बनाया गया अलहासिल पहला कौन सा है पहला वो कलीमा यानी पहली वो जगह है जहां पे एरा पोशीदा होता है वो कौन है वो असमा जो है मुतकलीम की तरफ मुजाफ हो इन शर्तों के साथ चलो अब फवाइदों को जो ऊपर बयान किया ना यानी मा उजीफ़ इलायाल मुतकलम वलईसा मुसन्ना वला जम मुजक्कर वला मनकूस वला तो फवाद इसके यानी ये शर्तें क्यों लाए फवायदों को बयान कर रहे हैं वाहतरस्तु बेकौली वलईसा मुसन्ना वला जम मुजक्कर सालिमन और मैंने एहतराज़ किया मेरा कौल वलईसा मुसन्ना वला जम मुजक्कर सालिमन से मिन्नाहवी गुलामाया व गुलामैया व मुस्लिमिया गुलामाय गुलामैय और मुस्लिमिया जैसी मिसालों के अंदर फ़ैनल या तस्बुत फ़ीहिमा जर्रन व नसबन इसलिए कि उसमें या बाकी रहती है साबित रहती है इन दो के अंदर यानी जमा मुजक्कर सालिम में और मुतस्निया के अंदर या साबित रहती है हालत जर्री और हालत नसबी में मुदगमतिन फी या मुतकलम या मुतकलम में मुदगम होकर इसलिए कि या उसमें साबित रहती है हालत जर्री और नसबी में या मुतकलम में मुदगम होकर वो हाँ, अलिफ तस्बुत फिल मुसन्ना रफन और अलिफ बाकी रहता है हालत तस्निया के अंदर हालत रफ़ी में वलई शयू मिनल हरफी अलमुदगमी वला मिनल अलिफी काबिल तहरीगी और हरफ मुदगम न के और न हरफ मुदगम और न अलिफ हरकत को कबूल करने वाले हैं न हरफ मुदगम और न अलिफ हरकत को कबूल करने वाले हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊपर जो बयान किया ना जहाँ पे उसकी तारीफ की अहद हुमा से क्या कहा था माँ उजी आए मुतकलिम वलई समुसन्ना वला जमा मुजक्कर सालिमन वला मनकूसन वला मकसूरन तो उसकी कि मैंने ये कैद क्यों बढ़ाई तो उसके फवायद बयान कर रहे हैं कि देखो तस्निया होगा तस्निया गुलाम उनका तस्निया क्या बनाएंगे गुलामानी अब गुलामानी यह अलीफ तस्निया है अलीफ नुन तस्निया का बड़ा या गुलाम के अंदर अब हालत रफ़ी होगी अब उसको या मुतकलीम की तरफ मुजाफ करो गुलामानी दो गुलाम उसको मुजाफ करो या मुतकलीम की तरफ इजाफत की वजह से नून गिर जाएगा इजाफत की वजह से नून तस्निया का जो नून है वो गिर जाएगा तो गुलामानी और या अब नून गिर गया क्या बना गुलामा य तस्निया तो बाकी रहा ने अलीफ तस्निया तो बाकी रहा ने हमारी बहस तो किससे चलती है एरा पोशीदा हो यहाँ तो अलीफ तस्निया रफा की अलामत है जा गुलामा य तो हम क्या कहेंगे गुलामा में अलीफ जो है वो तस्निया की अलामत हालत रफ़ी की अलामत है तस्निया हालत रफ़ी में अलीफ नून के साथ आता है आपने पढ़ा है याद होगा तस्निया हालत रफ़ी में अलीफ के साथ आता है उसका एराब अलीफ के साथ होता है तो यहां तो एरब क्या हुआ जाहिर हुआ हालत रफी के अंदर वही तस्निया है गुलामानी उसकी हालत नसबी और जदी कैसे आती है गुलामानी की गुला गुला गुलामैनी या माकबल मफ्तू माबाद मकसूर के साथ अब उसको इजाफत करो उसकी आय मुतकलम की तरफ गुलामैनी था उसको इजाफ मुजाफ बनाओ किसकी तरफ या मुतकलम की तरफ इजाफत की वजह से नून गिर जाएगा पहले तो तो क्या हुआ गुलामैनी नून गिर गया बाकी क्या रहा गुलामई अब यहां की इजाफत किया गुलामई नहीं था नून गिरा दिया इजाफत की वजह से क्या हुआ पहले तो गुलामई अब यह मुतकलम की या एक और बड़ी क्या हुआ या याद हो गई या का या में इतकाम हो गया क्या होगा गुला मैय समझे गुला मैय बस वही कह रहे हैं इसी तरह मुस्लिमीना जमा का सेगा है मुजक्कर सालिम का सेगा है जमा मुजक्कर सालिम क्या है मुस्लिम की जमा मुजक्कर सालिम मुस्लिमूना और मुस्लिमूना का हालत नसबी जर्री कैसे होती है या माँ कबल मकसूर माबाद मफतू के साथ मुस्लिमी न मुस्लिमी न अब उसके या मुतकलिम की तरफ मुजाक बनाओ पहले तो गोया का नून तो पहले गिर गएगा मुस्लिमी न तो नून गिर गया क्या बाकी रहा मुस्लिमी या के साथ या मुतकलिम किया बढ़ाओ तो क्या होगा मुस्लिमी य अलहासिल या तो यहां बाकी रहती है ना नून गिरता तो है तस्निया की हालत जर्री हालत नसबी में जमा मुजक्कर सालिम की हालत नसबी हालत जर्री में क्या बाकी रहा या तो बाकी रहती है गोया कि एराब तो जाहिर है लफजन एराब पोशिदा नहीं हम किसकी बहस कर रहे हैं ऐशा पोशिदा की इसलिए जमा मुजक्कर सालिम को भी निकाल दिया तस्निया को भी निकाल दिया वही कह रहे हैं मैंने मेरे कौल वलई से मुसन्ना वला जम मुजक्कर सालिमन से एतराज किया गुलामाया गुलामैया मुस्लिमिया जैसी मिसालों के अंदर फ़ैनल या तस्बुतु फ़ीहिमा जर्रन व सबन इसलिए कि जमा मुजक्कर सालिम और तस्निया में फ़ीहिमा की ज़मीन मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम की तरफ लौट रही है इसलिए कि या तस्निया की और जमा मुजक्कर सालिम की हालत नसबी और जर्री में या मुतकलम में मुदगम होकर बाकी रह जाती है कैसे मैंने बता दिया वल अलिफ तस्बुत फिल मुसन्ना रफन और तस्निया का अलिफ हालत रफी में बाकी रहता है गुलामा या वही मिसाल में से शयू मिनल हरफी अलमुदगमी वला मिनल अलिफी काबिल तहरीकी और अलीफ और मुदगम हरफ मुदगम वो भी हरकत को कबूल नहीं करता है अलीफ हर हाल में अलीफ को अलीफ ही रहता है गुलामा गुलामाया हर हाल में गुलामाया ही रहेगा चाहे जिस हालत के अंदर हो समझे तो अलीफ यानी अलीफ की हरकत बदलती नहीं है इसी तरह हरफ मुदगम भी मुस्लिमी या तस्निया यानी उसको मुदगम कर दिया या मुतकलीम को या तस्निया के अंदर वो हर हाल में वही रहेगा चलो ये तो एक पहली कैद पूरी हुई आगे फिर क्या कहा था वला मनकूसन वही कह रहे हैं कौली वला मनकूसन लिया लियाल मनकूसा तुद गमुफी या मुतकलीम इसलिए कि या मनकूस वो या मुतकलीम में मुदगम हो जाती है फतकोन कल मुसन्ना वल मजमू जर्रन वसन नसबन वो भी तस्निया और जमा जमा मुजक्कर के सालिम की तरह हालत जर्री और नसबी में हो जाता है समझे अलीफे मनकोश उसका बयान आगे आ रहा है इसमें मनकोश किसको कहते हैं जिसके आखिर में अलीफे मनको अलीफे या माकबल कबल मकसूर हो इसको क्या कहेंगे इसमें मनकूस जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो जैसे कि मिसाल देंगे जैसे उसकी मिसाल दी काजी काजी इसको क्या कहेंगे या है आखिर में और उसके माकबल क्या है मकसूर है अब काजी हालत में उसके एरा पोशीदा रहेगा समझे वही कह रहे हैं वला मनकूसन लिया मनकूसा तुदगम फी या मुतकलम या मुतकलम में काजी और उसको मुजाफ करेंगे या के साथ तो काजी का काजी ही रहेगा वही कह रहे हैं फतकून वो भी तस्निया और जमा की तरह हल्द जर्री नसबी में हो जाए उसकी बात आगे आ रही है वह कौली वला मकसूरन और मैंने मेरा कॉल किया था आगे क्या कैद बढ़ाई थी इसमें मकसूर न हो लेनल मकसूर तस्बूत अलिफू कबल लिया इसलिए कि इसमें मकसूर का अलीफ या से कबल या से माकबल में अलीफ बाकी रहता है वलीफ़ुला तकबल हरकत और अलीफ हरकत को कबूल नहीं करता है वह अकल मुसन्ना वो भी तस्निया की तरह है हालत रफ़ी के अंदर उसकी मिसाल क्या दी जा फता क्या है फता अल फता क्या है मकसूरा के साथ है अलफता अब फता के अंदर या के साथ लिखा जाएगा फता को तो याद होगा अब उसको या मुतकलीम की तरफ मुजाफ करे तभी अलफता अलफता ही रहेगा अलीफ के अंदर एराब पोशीदा माना जाएगा एराब को बदलेगा नहीं अलीफ का قال الله تعالى يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام نوديت البشرى मुजाफता इला याहिल मुतकलम नूदियत मुनाना बनाया गया बुशरा को या मुतकलम की तरफ इजाफत करके या मुतकलम की तरफ इजाफत करके बुशरा को मुजाफ बनाया गया वफिल अलिफी फतहतुन मुकदरतुन और अलिफ के यानी बुशरा के अलिफ के अंदर फतह मुकद्दर होगा लियन्नहु मुनादा मुजाफुन इसलिए कि मुनादा मुजाफ है वकर अल कुफीयुन या बुशरा बिगैर इजाफतिन और कुफी ने यानी अहले कोफा के कुर्राए सभा में से जो अहले कोफा के हैं तीन कार्य अहले कोफा में से कुर्राए सभा है कोफा के तीन कार्य है कुर्राए सभा में कोफा के तीन कार्य है कौन से नीचे आया नंबर तीन में यू नहुम हमजा व आसिम व किसाई ये तीन कार्य के हैं कोफा के तो वो क्या पढ़े या बुशरा या बुशरा अलिफ के साथ पढ़ते हैं बगैर या के इजाफत के बगैर फल मुकद्दर फिल अलिफी वही के फल मुकद्दर फिल अलिफी अब अगर या बुशरा पढ़ा तो क्या कहेंगे जो बुशरा का अलीफ है आखिर में है मनकू मकसूर उसके अंदर या तो जम्मा पोशीदा होगा कमाफी कौली का जैसे या फतेह के अंदर तेरे कौल में जम्मा पोशीदा होता है लिमुआयनी इसलिए कि ये मुलाना मुन है वह इम्मा फतहतुन अला अन्नह निदाउन शायुन या तो फतह मुकद्दर होगा इसलिए कि नकीरा गैर निदाय शाय यानी आम निदा है यानी जिसको नकीरा गैर मुआना है क्या कहना चाह रहे हैं कहना यह चाहते हैं कि या बुशरा उसकी दो किरात है या बुशरा य या बुशरा बुशरा को मजाक किया या मुतकलम की तरफ तो या बुशरा य बांस कुर्रा सभा में से बास तो या के साथ पढ़ते हैं अब अगर या के साथ पढ़ते हैं तो क्या पोशीदा होगा जम्मा पोशीदा होगा क्योंकि हर्फ निदा का मुनादा है और मुनादा कैसा मुनादा है मुन मुनादा है तो इस उस सूरत में क्या है जम्मा पोशीदा होगा अलिफ के अंदर बुशरा य के बुशरा य तो जहाँ रा है ना रा के साथ अलिफ अलिफ मकसूर तो उसमें क्या जम्मा पोशीदा होगा अब बासकारी यानी जो तीन कारी जो है कुफिया कुफा के वो क्या पढ़ेंगे या बुशरा बगैर इजाफत के अब अगर या बुशरा पढ़ा तो या तो कहते हैं कि या तो जम्मा पोशीदा होगा जम्मा क्यों पोशीदा होगा इसलिए कि वो कहा गया वो बग... नकीर है मुन है एक मुन आदमी को मुशरा गया एक मुतयन नौजवान जा रहा था हम उसको कहे या फता ए नौजवान नौजवान तो कहा है नौजवान तो मुतलक है किसी को भी नौजवान कह सकते लेकिन हमने या मुनादा के मखसूस कर दिया मुन मुनादा मुन के अंदर इसलिए जम्मा वहां मुकद्दर होगा और अगर क्या है अब यहाँ फतहा भी मुकद्दर हो सकता है कि आम है निदा आम है या फतह किसी को भी कह सकते हैं अलहासिल एक बस जायद बहस है हमें इतना याद रखना है कि इसमें मकसूर भी इस कैसे निकल गया उसके मकसूर उसके बयान आगे आगे मुफसल आ रहा है इसमें मकसूर के अंदर या बुशरा के अंदर दो की रात है या बुशरा या, या के साथ तो उस वक्त में मुकद्दर होगा क्या जम्मा मुकद्दर होगा अलिफ के अंदर और अगर या बुशरा बगैर या के उस वक्त जम्मा या फतह दो मुकद्दर हो सकते हैं फतह अब कहते हैं वह इम्मा फतहतन अला अन्नहु निदाउन शाइन अन्नहु निदाउन शाइन या तो फतहा मुकद्दर होगा इस वजह से कि ये निदाए आम है यानी नकीर गैर मुआन है जैसे कि या हसरतन इबाद या हसरतन इबाद में भी क्या है नकीर गैर मुन था तो या हसरतन तनवीन के साथ पढ़ा था यानी फतह फतहा माना था यहाँ पे यानी यहाँ पे लफ्जन पता है यहाँ मुकद्दर है फर्क यह है कि नकीर गैर मुन यहाँ तनवीन के साथ आया था और ये बगैर तनवीन के है इलाम मगर यह के या बुशरा को तनवीन नहीं दी गई है लिकौनी लायन सिर्फ इसलिए कि ये गैर मुनसरफ है ले अजली अलिफ तानीसी अलिफ क्या है तानिस की वजह से मुन्नस का अलिफ मिला हुआ है इस वजह से उसको गैर मुनसरिफ है इसलिए तनवीन नहीं दी गई अलहसिल खुलासा कलाम क्या इसमें मकसूर जो होगा वो भी इस कैद से निकल गया उसकी कैद से निकलने का मकसद क्या है कि यहाँ पे अलीफ की वजह से अलीफ की वजह से एराब जाहिर होता है एराब पोशीदा नहीं होता है चलो वह नौसानी अलमकसूर ये तो कौन सी बात हुई जहां पे एराब छह जगह ऐसी थी जहां एराब पोशीदा होता है उसमें से पहली बहस चल रही है जहां पे तीनों तीन हरकत पोशीदा हो पहला तो कौन सा इसम जो आए मुतकलम की तरफ मुजाफ हो तो वहां पे तीनों तीन हरकत पोशीदा जा गुलामी राय तो गुलामी मरर तो भी गुलामी उसकी दो किस्में बयान की थी जहां पे तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है उसकी दूसरी किस्म बयान कर रहे हैं वनाउस्तानी यानी जहां पे तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है उसकी दूसरी किस्म अल मकसूर इसमें मकसूर है वह इसम अलमोरबू अल्लती फी आखिरी अलिफू लाजिमतुन इसमें मकसूर की तारीफ कह रहे हैं वो इसमें मौरब है कि जिसके आखिर में अलिफ लाजिम है इसमें मकसूर किसको कहते हैं कि जिसके आखिर में अलिफ लाजिम है देखो यहाँ फवाद को इसम लाए अल इसम इसम से फैल को निकाल दिया जैसे यक्षा खशिया यक्षा यक्षा के आखिर में भी अलिफ है लेकिन वो क्या है वो फैल है इसमें मकसूर तो इसम होता है तो इसम के जरिए फैल को निकाल दिया कौन सा फैल जैसे यक्षा जैसा फैल फिर आगे क्या कहा अलमोरब उससे किसको निकाल दिया मबनी को निकाल दिया जैसे ईजा ईजा के आखिर में भी अलिफ तो है लेकिन ये क्या है हर्फ है ये दो समझे तो ये किस इससे किसने निकाल दिया मौरब के जरिए मबनी को निकाल दिया समझे फिर इसी तरह कहा गया आखिर में अलिफ लाजिम हो इसमें मकसूर के आखिर में अगर बीच में हो या अलिफ गैर लाजिम हो तो वो भी निकल जाएगा गैर लाजिम जैसे तस्निया का अलिफ गुलामानी तस्निया का जो अलीफ है ये गैर लाजिम लाजिम थोड़ी असल तो गुलाम है तस्निया की अलामत है ये हालत नसीबी जर्री में किससे बदल जाता है या माँ कबला मफतू और, और माहवाद मकसूर के साथ बदल जाता है तो ये अलीफ गैर लाजिम हुआ समझे हासिल के इसमें से फैल को निकाल दिया मौरब से मबनी को निकाल दिया और अलीफ लाजिम से अलीफ गैर लाजिम को निकाल दिया जैसे कि फतेह अल असाता कोलो जाल फतेह रईतुल फतेह मरतुबी फतेह तीनों तीन हालत में अराब पोशीदा होगा फतकून और अलिफू साकिन अला कुल्ली हाल अलिफ साकिन होगा हर हालत में व तकदर फ़ील हरकत सलासुल तजुरी तहर और तीनों तीन हरत में उसमें यानी तीनों तीन हरकत उसमें पोशीदा होगी हरकत के मुआजर होने की वजह से नहीं हरकत उसमें माजूर है जाहिर नहीं हो सकती इस वजह से हरकत के मुआजर होने की वजह से तीनों तीन हरकत उसमें पोशीदा होगी अब यहाँ पे क्या कहा अलीफ की वजह से अलीफ के अंदर तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है अलीफ के अंदर हरकत जाहिर नहीं होती है बस इस बात को बताने के लिए एक पूरी बहस ले आए पूरा शेल ले आए किस बात को बताने के लिए कि अलीफ साकिन होता है उसमें तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है किसके लिए अलीफ लाजिम हो तो वो साकिन होता है उसमें तीनों तीन हरकत पोशीदा होती है जाहिर नहीं होती है जैसे कि फतेह के अंदर जाल फतेह रायतुल फतेह मरतु बिल फतेह फतेह के अंदर एराब जाहिर नहीं होगा तीनों तीन हरकत अलीफ के अंदर पोशीदा होगी उसी बात को बताने के लिए आगे का कलाम ला रहे हैं वमी महासिनी बाजिल फजलाई बाज फजला के कमालात में से ये है यानी जिस कौन फा, वो फाजिल से मुराद कौन है देखो नीचे हाजिल अबियात अल कामिल वह हुआ मोहम्मद इबन रिजवान इबन इब्राहिम इबन अब्दुलरहमान अलमारूफ इबन रात इब्ने रात का ये शेर है इब्ने रात के कमाल में से यह है कि अन्नहू कतबा उसने लिखा मदीनती कौस कौस शहर से इला शेखिल अलमाई शेखिल अल्लामती बहाउद्दीन मोहम्मद इबन नुहास अल हलबी रही कि उन्होंने यानी किसने इब्न राद ने शेख बहाउद्दीन मोहम्मद इब्न नुहास अल हलबी को एक खत लिखा क्या लिखा उसमें यदशवकू इलेही अपने शौक मुलाकात को उसमें जाहिर किया वयस्कू लहू वयस्कू लहू नुहू लहू नुहुल कहते हैं जौफ को और अपनी कमजोरी का उसमें इजहार शिकायत की खत में क्या लिखा यदशवकू इलेही अपने शौक मुलाकात का इजहार किया वह लहू नूहू और अपने जौफ की शिकायत की उनसे फ़काल और कहा सलीम अल मौला अल बहाई सलीम सलाम पहुंचा दो अल मौला मेरे आका अल बहाई बहाउद्दीन को मेरे आका बहाउद्दीन को मेरा सलाम पहुंचा दो वसीफ लहू और उनसे बयान करना लहू उनसे शौ की मेरी के मुलाकात को इले ही उनकी जानब और उनके उनकी जानी मेरे के मुलाकात को बयान करना वह अन्ननी ममलूक हूँ और इस बात को भी बयान करना अन्ननी ममलूक हूँ कि मैं उनका गुलाम हूँ और इस बात को बयान करना कि मैं उनका गुलाम हूं तर्जुमा समझे सलनी वल मौला बहाई मेरे आका बहाउद्दीन को मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे बयान करना मेरे शौक मुलाकात को उनकी तरफ और ये भी बयान करना कि मैं उनका गुलाम हूं अबदन युहर रिकोनी इलही की अबदन हमेशा युहर रिकोनी मुझे मुस्तरब करता है मुझे बेकरार करता है इलाही उनकी जानी की मेरा शौक मुलाकात उनका शौक उनकी मुलाकात का शौक हमेशा मुझे बेचैन कर देता है उनका शौक मुलाकात यानी उनकी मुलाकात का शौक मुझे हमेशा बेकरार कर देता है युहा रिगुनी मुझे बेकरार कर देता है कशो की मेरा शौक मुलाकात इलाही उनकी जानब उनका शौक मुलाकात मुझे हमेशा बेकरार कर देता है जिसमें भी मशरूत मश, मशतूर व मनहूक व मनहूक हूँ मेरा जिसम उसकी वजह से टुकड़े टुकड़ा हो गया है मशरूत हूँ मनकू दोनों का तर्जुमा टुकड़े टुकड़ा होना मेरा जिस्म उसकी वजह से टुकड़े टुकड़ा हो गया है लाकिन नहिल तो लिबुअद ही लेकिन मैं कमजोर हो गया हूँ मैं लागिर हो गया हूँ लिबुअद ही उनकी दूरी की वजह से लेकिन मैं कमजोर हो गया हूँ उनकी दूरी की वजह से फ़का अन्ननी अलिफुन गोया के मैं अलिफ बन चुका हूँ वलई सा बिमुमकिन इन तहरीक हो और अलिफ को हरकत देना मुमकिन नहीं है यही महल इस्तेशाद है वलई सा बिमुमकिन इन तहरीक हो और अलिफ को हरकत देना मुमकिन नहीं है बस इस बात को पूरा शेल लाए फिर से एक बार तर्जुमा मेरे आका बहाउद्दीन को मेरा सलाम पहुंचा दो और उनसे बयान करना मेरे उनके शौक मुलाकात को और इस बात को बयान करना कि मैं उनका गुलाम हूं हमें उनका के मुलाकात हमेशा मुझे बेकरार कर रखता है मेरा जिस्म उसकी वजह से टुकड़े टुकड़ा हो गया है लेकिन मैं कमजोर हो गया हूं उनके दूरी की वजह से गोया के मैं अलीफ हो गया हूं और अलीफ को हरकत देना मुमकिन नहीं है समझे अलीफ को हरकत देना मुमकिन नहीं है तरकीब देखो सलीम फैले अमरा समझे महल से साथ क्या है आखिरकार साथ लई सभी मुमकिन तहरीक अलिफ को हरकत देना मुमकिन नहीं है इसी वजह से पूरा तीन तीन अशाल ले आए सलीम अल मौला सलीम फैले अम्र अंत की जमीर उसके अंदर फाइल अला हरफे जर अल मौला मुबदल मीन हो बहाई बदल मुबदल बदल मिलकर अला हरफे जर का मजरू जार मजरूर मिलकर मुतालिक होगा सलीम फैले अम्र का फैले अम्र अपने फाइल और अपने मुतालक से मिलकर जुमले फैलिया इंशाइया जुमले फैलिया इंशाइया वाव अर्फियत सिर्फ पहले अम्र अंत की जमीर फाइल वसफ़ उसे सिर्फ पहले अम्र है अंत की जमीर उसका फाइल लहू जाय मजू मिलकर मुतालिक होगा सिर्फ पहले अम्र सिर्फ पहले अम्र और अंत की जमीर उसका फाइल लहू जाय मजू मिलकर मुतालिक सिर्फ का शौक मजदर या शौक मजदर मुजाफ या मुजाफ इले ही जाय मजूर मिलकर मुतालिक शौक मजदर का समझे शौक मजदर या मुजाफ इलही उसकी इलाही जा मजू मिलकर मुतालिक किसका शौक मजदर के शौक मजदर अपने मुजाफिर और अपने मुतालिक से मिलकर मातुफ अलई वाव हरफे अटफ अन्न हरफे मुशब्बा बिल फेल नून विकाया या उसका इसम ममलूक इजाफत के बाद हरफ मुशब्बा बिल फेल की खबर हरफ मुशब्बा बिल फेल अपने इसम और खबर से मिलकर जुमले इसमें या खबरिया होकर बताबिल मजदर होकर मातूफ मातूफ अल मातूफ मिलकर सिफ का मफूल सिर्फ फैल फाइल मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमले मातूफा हुआ समझे तरकीब पहले शहर की सलीम फैले अमरा की जमीर उसका फाइल अला हरफेजर अल मौला मुबदल मिनू और बहा बदल मुबदल बदल मिलकर जय हरफेजर का मजूर जय मजूर मिलकर सलीम का मुतालिक सलीम फैल अपने फाइल अपने मुतालिक से मिलकर जुमले फैलिया इंशाइया बस यहाँ बात पूरी हो गई वाह वर्फियात अत्व यह जुमले मातूफा हुआ वाह वर्फियात सिर्फ फैले अम्र की जमीर फाइल लहू जय मजूर मिलकर सिर्फ का मुतालिक शौक मजदर या मुजाफ या मुजाफ इलही इलही जार मजूर मिलकर शौक मजदर का मुतालिक शौक मजदर अपने मुतालिक और अपने मुजाफिल से मिलकर मातूफ अलई वाव हरफ अटफ अन्ना हरफ मुशबा बिल फेल नून है या उसका इसम ममलूक हो मुजाफ मुजाफिल मिलकर अन्न की खबर अन्न अपने इसम और अपनी खबर से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया होकर बताबिल मजदर होकर मातूफ मजदर की ताबिल मानना पड़ेगा क्योंकि उसका मजदर पर हो रहा है શોક મસદર પર એટલે ले मजदर होकर मातूफ मातूफ मातूफ वाले मिलकर सिर्फ फैल अम्र का मफूल फैल अपने फाइल अपने मफूल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमले फैलिया इंशाइया होकर जुमले मातूफा आगे अबदन ये जर मफूल फी मुकदम रिकुनी फैल फाइल नुनिकाया या मफूल फैल फाइल मफूल हर रिकु फैल नून विकाया या मफूल इलाही जार मजरू का मुतालिक युहर रेगू का तशु की मुजा मुजा बिलह मिलकर युहर रेगू का फाइल मेरा शौक मुझे मुस्तरब करता है समझे अबदन मफूल फी मुकदम युहर रिकू फेल नून विकाया या मफूल इलाही जार मजूर मिलकर मुतलिक युहर रिकू के तशु की मुजा मुजा बिलह मिलकर फाइल किसका युहर रिकू के युहर रिकु फेल फाइल मफूल मुतालिक से मिलकर जुमले फैलिया खबरिया होगा जुमले मातूफा जिसमी जिसमी बिही जिसमें मुजा मुजा विलय मिलकर मुफ्तदा जिसमें मुजा मुजा विलय मिलकर मुफ्तदा बिही जा मजू मिलकर मुतालिक मशरूत के मुतालिक मुकदम है मशरूत के मुकदम मशरूत ये क्या है मशरूत मुजा मुजा विलय मिलकर और मशरूत ये सेगे सिफत हु उसका विलय बिही उसका मुतालिक मशरूद अपने विलय मुतालिक से मिलकर खबर अव्वल मन को हु मुजाफिलय मिलकर खबर सानी मुफ्तदा कौन है जिसमी जिसमें मुबतदा बिही मुतालिक मशरूद के मशरूद अपने मुतालिक अपने मुजाफिले से मिलकर खबर अव्वल मनकू खबर सानी मुबतदा अपनी खबरों से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया होगा जुमला मातूफा लागिन हरफ इजराब नहिल तो फैल बफाइल लिबौद ही जार मजरूर मूसा मुजाफिल मिलकर मजरूर लाम हरफ जर का जहाँ लाम हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक नहिल तो गया नहिल तो फैल अपने फाइल अपने मुतालिक से मिलकर जुमले फैलिया होगा जुमले जुमले मातूफा फारफियत काना हुफ मुशबा बिल फैल नून उसका नून विकाया या उसका इसम अलिफ उन उसकी खबर काना की खबर अलिफ अलिफ काना हुफ मुशबा बिल फैल अपने इसम और खबर से मिलकर जुमले मातूफा वाव हरफियत फैले नाकिस मुमकिन बार फेजर जायदा मुमकिन लईसा की खबर तहरीक को मुजा मुजाविले मिलकर लईसा का इसम लईसा अपनी इसम खबर से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया हुआ जुमले फैलिया खबरिया हुआ समझे तरकीब आसान तरकीब है उसमें कोई भी किसी का किस पर नहीं हो रहा है सब मुस्तानिफा जुमले हैं बस महल साथ क्या है लई सब मुमकिन तहरीक अलिफ को हरकत देना मुमकिन नहीं है इस बात की वजह से ये शहर लाए हैं